हमने ही तुम्हारे दरमियान मौत के फैसले कर रखे हैं और कोई नहीं है जो हमें इस बात से आजिज कर सके